श्रोतश्च विभुप्रयासु सम्मान्य विद्वद्गण उपस्थित सज्जनों मातृशक्ति आपके जीवन से संबद्ध कुछ बातें आपसे मैं पूछता हूं ब्रह्मचारियों में से बुद्धि पूर्वक ज्ञान पूर्वक असत्य भाषण कौन कौन करते हैं ईश्वर से चलो हाँ जी आप बोलो ज्ञान पूर्वक असत्य भाषण कौन कौन करते हैं आप बोलो तो आपका नहीं करते हाँ जी नहीं करते सर आपका आप कभी कभी कर लेते हैं आपका नहीं करते हाँ जी अच्छा आप व्यवहार में कटु भाषा कड़वी भाषा उत्तेजित भाषा कौन कौन करते हैं हाँ ईश्वर से चलिए कभी कभी कर लेते हाँ जी कभी कभी हो जाता आप बोलो थोड़ा बहुत कभी हो जाता है थोड़ा बहुत ही होता है कभी आप बोलो नहीं करता स्वामी करता नहीं करता कभी कभी हाँ जी बोलो बड़ी माता ये दोष उसमें रह गया आपने सुना है कि दस प्रकार के कर्म हुँ? हम्म? तीन मानसिक तीन शारीरिक और चार वाणी के तो वाणी के कर्मों में आपने सत्य भाषण का कार्य तो पूरा किया आपके कथनानुसार पर उसमें जो ये बात आई कि सत्य बोलना और प्रिय बोलने वाली बात छूट गई आपसे हम्म नहीं छूटी तो उसको आप कब पूरा कर लोगे कितने दिन में कर लोगे पूरा हाँ जी विशाल जी दिन का निर्धारण तो नहीं बता सकते तो शीघ्रातिशीघ्र करने का प्रयास करें जो व्यक्ति ये जान गया कि यह मैं दोष करता हूं फिर उस दोष को हटाने के लिए पूर्ण प्रयास नहीं करता तत्पर नहीं रहता तो वो दोष उसका दूर नहीं होता आप पूर्ण प्रयास करेंगे तत्पर रहेंगे तो वो शीघ्र छूट जाएगा और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वो दस वर्ष में भी माता जी बुद्धिमती जारिया जी बोलती हैं आज स्वामी जी क्रोध कर लिया <laughs> तो क्यों वो असावधान रहना तत्पर न रहना पूर्ण प्रयास न करना इसलिए वो फिर वैसा ही संसार में देखा गया कि बहुत से व्यक्ति पर्याप्त अधिक क्रोधी होते हैं वो नब्बे अस्सी वर्ष के भी हो जाए उनका क्रोध लगभग जो का तो रहता आपने देखा कभी या नहीं देखा हुँ? हम्म? इतने प्रयत्न से ऐसी स्थिति में रहने से दोष दूर नहीं होते सत्य बोलना असत्य न बोलना प्रिय सुखप्रद बोलना और और क्या क्या है उसके साथ में सार्थक बोलना सार्थक बोलना निरर्थक न बोलना और हितकारी बोलना हाँ हितकारी माँ गया और छूटा कौन सा कठोर एक कठोर आ गया जैसे कठोर के ऊपर चर्चा थी कम बोलना तो कम बोलने का मतलब ये जोड़ो ना जितनी आवश्यकता उतना बोलना जितनी आवश्यकता हो उतना बोलना न न्यून न अधिक और क्या छूटा किसी की निंदा चुगली है न करना आप करते हैं कभी दूसरे की ऐसी आप कभी कभी ब्रह्मचारी आपस में चर्चा करते हैं ना बातचीत करने लगे यहां यहाँ कहीं हैं और आपस में उन्होंने चर्चा बनाई देखो ये ये ब्रह्मचारी तो वैसा ही है ये तो ऐसे ही किया करता है ये बहुत स्वार्थी है ऐसे बोलोगे बहुत चालाक है ऐसे बोलते हो कोई आपस में दूसरे के विषय में हम्म? है तो वो अच्छा है क्या हुँ? हम्म? आप भी बोल लेते हो ऐसा है इसको छोड़ोगे नहीं कब अब जो ये रीति पद्धति आपने अपना ली तो दूसरे के दोष देखने में चतुर बन जाओगे और अपने विषय में आप आंख बंद कर लोगे ये आगे चल के ये स्थिति बनेगी दूसरी बात यदि जिस जिसके आपने दोष सुनाए उस व्यक्ति को पता चल गया कि दूसरे के समक्ष इसने मेरे दोष सुनाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अच्छा पड़ेगा या बुरा तो आपने दूसरे पर बुरा प्रभाव यदि किया तो आपने कोई अच्छा कार्य थोड़ा ही किया तो ये देखना पड़ता है कि किसी भी व्यक्ति पर हमारे व्यवहार का बुरा प्रभाव न पड़े ऐसा व्यवहार किया जाता है ये पृथक विषय है कि हम सर्वय हितकारी कार्य को करें फिर भी उस पर कुप्रभाव हो तो वो हमारा क्षेत्र नहीं है वो होता रहे उसको इसके साथ नहीं जोड़ते अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं हम फिर भी वो व्यक्ति दुखी है नाराज है उल्टा है सीधा तो उसका सर्वहितकारी कार्य करने में कोई दुखी हो नाराज हो तो उसका यहाँ पर अभिप्राय नहीं है अपनी ओर से तो उतना प्रयास किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर भी कुप्रभाव न पड़े अपनी ओर से यह प्रयास कर आपको कोई कार्य दिया हुआ है विद्यालय का और आप ठीक समय पर नहीं करते भूल गए तो दूसरे बात को फिर भूल गए एक दम वो व्यक्ति देखता है कि मैं जो ठीक समय पर कार्य नहीं करता इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता इतने समय पर मुझे कार्य कर देना चाहिए था तो इसका परिणाम होगा आप अच्छे बनेंगे आप आप दोषों से बचने के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे यदि आपके ऊपर ये प्रभाव नहीं है तो आप निश्चित रूपेण बुरे बनेंगे ये तो आपने पढ़ लिया होगा या सुन लिया होगा क्या अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान थी ये तो सुन लिया होगा पर आपने स्वयं को नहीं देखा कि मैं अक्षी पात्र बनने वाला हूं या नहीं बनूंगा या नहीं ये कोई ध्यान नहीं ठीक है वो पढ़ लिया पढ़ा लिया ठीक हो गया इस रुचि प्रवृत्ति वाले व्यक्ति जिसको हम कहते हैं ये बहुत बड़ा विद्वान है बड़ा भारी प्रवक्ता लेखक अध्यापक है वो भी अच्छे नहीं बनते नहीं बन सकते उसके मन पर कोई प्रभाव ही नहीं कि अमुक समय में कार्य करना था वो उसने नहीं किया और करवाने वाले के ऊपर जो प्रभाव पड़ा उसको दुख हुआ या उसने अनुभव किया उसका प्रभाव उसके ऊपर कुछ भी नहीं इस स्थिति वाला व्यक्ति कभी अच्छा नहीं बनता व्यवहार में व्यक्ति जो यम नियमों को देखता है व्यवहार में और यम नियमों के विरुद्ध आचरण नहीं होने देना चाहता करना चाहता पूरा प्रयत्न करता फिर भी हो जाता है कभी शरीर से नहीं हुआ वाणी से भी नहीं हुआ पर मन से बहुत अधिक होता है या नहीं होता आपका क्या अनुभव बताओ शरीर से आप कोई ऐसी चीज नहीं करते वाणी से भी आपने संयम कर लिया पर मन से बुरा होता रहता है आप ये अनुभव करते हैं या नहीं करते करते हाँ <coughs> दिन भर कितना बुरा होता है उसकी गणना करनी भी कठिन है मन से यदि आप अनुभव न करें तो कुछ नहीं वो होता रहेगा और वो मन में होता रहेगा और आपके चरित्र को आपके आत्मा को आपके मन को जीवन को वो अत्यंत दूषित करता रहेगा अंदर और आप पढ़ते जाएंगे प्रवक्ता लेखक बन जाएंगे उपदेशक बन जाएंगे फिर आप अशुद्ध ही रहेंगे ध्यान देंगे आप जो नियम मंतव्य वैदिक आर्य समाज के दस नियम इक्यावन मंतव्य या ऋषियों की कही हुई बातें उसके विरुद्ध हम इच्छा करते हैं उसके विरुद्ध है हम प्रयत्न करते हैं उसके विरुद्ध फिर मानसिक आचरण तो हो ही जाता है फिर वाचनिक और शारीरिक को रोकना वाचनिक रुक गया शारीरिक रुक गया मानसिक होता रहता या नहीं होता हुँ? हम्म? आप ये नहीं कहते प्रयास भी इतना नहीं करते कि हम्म, मेरा सम्मान होना चाहिए अच्छा मन में आप इच्छा रखते हैं कि मेरा सम्मान होना चाहिए आप बताओ कौन कौन ये अनुभव करते हो कभी हाँ जी बोलो बताओ अपना हाँ जी कभी कभी होता है आप बोलो आप बोलो सर अब आप हैं नहीं करते या पता ही नहीं चलता करते ही नहीं तो इसकी ये जो बात है इसके ऊपर क्या विज्ञान है आपको बताता हूं उस व्यक्ति को पता ही नहीं सम्मान की मैं इच्छा करता भी हूं या नहीं यही पता नहीं एक तो ये स्तर है अथवा उस व्यक्ति का बहुत ऊंचा स्तर है क्या समझे नहीं समझ में आया या तो उसका बहुत ऊंचा स्तर है होने ही नहीं देता वो इतना नियंत्रण है जैसे ब्रह्मचारी का इतना नियंत्रण है बहुत ऊंचा स्तर है अथवा उसको पता ही नहीं चलता जो मन से चाहता है जब कोई पता मन में करता रहता है और पता कुछ नहीं चलता माताएं कुछ सुन रही है या नहीं है आप बताओ अपना मन में इच्छा होती है या नहीं आप बोलो हाँ जी संभव है या होता रहता है मन में विचार आप भूल जाती होगी आपने दो घंटे पहले इच्छा की थी भूल गई तो कहने लगी मुझे पता ही नहीं ऐसे करो है ऐसा होता है और पता ही नहीं कह देना तो कुछ ठीक है और ये कह मैं करती ही नहीं अब वो झूठे को हो गया <laughs> हाँ जी रण सिंह हाँ जी कैसे नींद की तरह हो रहे हो हैं नहीं पता चलता कई बार व्यक्ति सो जाता है नींद आता है और फिर वो सावधान हो जाता है और उससे पूछो क्या नींद आई थी क्या ना नींद बिल्कुल नहीं आई <laughs> तो ये जो स्थिति है मन में बुरे कर्मों की इच्छा का होना मन में बुरे कर्म करने के लिए प्रयास करना ये होता है अर्थात जिन विषयों में हम बहुत कुछ जान चुके हैं बहुत पढ़ पढ़ा चुके हैं बहुत लिखने के काम किसी ने किए हों फिर भी वो देखता है मन में बुरा करने की बुरा कर्म करने की मन में इच्छा होती है और बुरा कर्म करने की इच्छा के साथ प्रयत्न होता है और ध्यान देता है तो वो उस इच्छा और प्रयत्न को रोक देता है समझ में आता इच्छा होती है आपने कहा कि सत्य बोलो बोलना चाहिए अब वाणी से तो सत्य नहीं बोलते आप अच्छा मन में बोलने की इच्छा होती हो अब बताओ क्या समझ में नहीं आया आप बोलते नहीं मान के चलिए नहीं बोलते अब फिर भी आपके मन में बोलने की इच्छा होती होगी आप बताओ अनुभव है या नहीं हाँ जी बोलो उदाहरण देता हूं उसमें पकड़ में आएगा हम्म? तो आपने नियम भंग किया यहां संस्कृत भाषा बोलनी चाहिए और आपने वहां पर आर्य भाषा बोल दी हिंदी भाषा और नियम यह है कि रात्रि को आत्मवीक्षण के काल में बताओ मैंने आज ये नियम भंग किया संस्कृत भाषण के काल में अपनी आर्य भाषा मैंने बोली आपने बोल दिया पता भी चल गया मैंने बोल दी भूल तो हो गई फिर वो सोचने लगे ये न बताया जाए तो अच्छा रहेगा क्या समझ में आया मन में फिर कहता फिर तो मैं झूठ बोलने वाला बन जाऊंगा <laughs> फिर मुझे स्वामी जी हाथ खड़ा करवाएंगे उस समय भी बड़ी आपत्ति खड़ी हो सकती है कि झूठ बोला और यदि कई बातों का ध्यान करेगा फिर कहेगा नहीं नहीं नहीं बोलना चाहिए पहले इच्छा कर चुका है वो क्या समझ में आया है नहीं समझते इच्छा कर चुका है यदि वो ध्यान दिया तो उसने उसको रोक दिया नहीं नहीं ये ठीक नहीं है इच्छा तो कर ही ली ना पहले तो तो मानसिक स्तर पर तो वो पाप हो गया अब बताओ ये केवल मैंने एक दृष्टांत दिया ये सैकड़ों जगह ये लागू होगा आपने ये जाना समझा कि स्वयं कष्ट उठा के भी दूसरे को सुख देने का प्रयत्न करो मान लो ये समझ लिया अथवा इससे नीचा स्तर जैसे अपना भला चाहते हैं उन्नति वैसे दूसरे की चाहो चाहे वो विद्या प्राप्ति की हो चाहे कोई खाने पीने की हो कोई भी सुविधा या सुख आपने मन में सोचा ये अच्छी पुस्तक है ये अच्छा वस्त्र है ये अच्छी दूसरी चीज है कोई भी ऐसी और मन में सोचा ये मुझे मिल जाए तो अच्छा है मन में आया इसको नहीं मिले मुझे मिल जाए मन में सोच लिया मुझे मिले इसको ना मिले ऐसा मन में सोचा अब इच्छा भी हो गई और ये निर्णय भी हो गया कि इसको नहीं मिले मुझे मिले अब फिर आया विचार ये ये विचार तो मैंने गलत कर लिया यदि वो टकराता है प्रतिपक्ष भावना यदि है तो टकराएगा उससे नहीं ये मैं गलत सोचता हूं इसको मिलनी चाहिए मुझे नहीं तो टकरा गया उससे मानसिक दोष तो हो चुका है क्यों जी स्थिति निश्चित हुआ कि ये मुझे मिलनी चाहिए इसको नहीं तो हो गया और ये इच्छा उठने लगी कि मुझे मिले या इसको मिले और इच्छा को वहीं का वहीं रोक दिया तो फिर वो कर्म नहीं माना जाएगा पूरा कर्म नहीं हुआ मन में इच्छा तो उभरी वहां का वहां रोक दिया उसने एक भिन्न स्थिति निश्चित कर लेना इसका स्तर और मन में उभार आना तत्काल रोकना इसका स्तर भिन्न है आपको भिन्न भिन्न स्तर समझ में आते हैं एक तो इच्छा आरंभ हुई इच्छा आरंभ होते ही रोक दी एक इच्छा करके निर्णय कर लिया कि मुझे मिलनी चाहिए इसमें उसमें अंतर है स्तर भिन्न भिन्न समझ में आए या नहीं आए अब जब आपको समझ में ही नहीं आए तो आप इसको व्यवहार में नहीं ला सकते और समझ में आ गए और आपने फिर मनन नहीं किया तो भी व्यवहार में नहीं आएंगे और मनन भी कर लिया तो निधि ध्यासन नहीं किया तो फिर भी व्यवहार में नहीं आएंगे निधिध्यासन भी कर लिया याद रखिए और प्रयोग भी होने लग गया ठीक प्रयोग होने लग गया यदि आप अत्यंत सावधान नहीं रहेंगे ये काम हो रहे हैं ठीक हो गए असावधानी हो गई असावधान है आप निधि ध्यासन भी कर लिया आचरण में भी लाने लग गए ठीक है फिर हो गया सावधान परिणाम जो विपरीत कार्य जिसके लिए आपने प्रयत्न किया इच्छा को रोका फिर मनन किया निर्णय किया आचरण भी करने लग गए अर्थात एक सुनी पड़ी बात का प्रयोग होने लग गया ये कहो ठीक है नहीं और फिर असावधान हो गया हो गया सावधान असावधान होते ही फिर उसी कार्य को कर लोगे अब क्या समझ में आया माता जी सुनाओ तो आता है समझ में हाँ जी रण सिंह जी क्या समझ में आ रहा आप भी तो बोलो कुछ कोई विचार मन में आया पर तुरंत रोक दिया स्थिति होती हम्म। दूसरी विचार आने पर उसका फिर मनन किया हम्म। ये जो विचार था उसको उसको रोकना मनन किया ठीक आपको ये समझ में आया कि अनेक विषयों में आपने समझा और निधि भी कर लिया आचरण में वो चीज आने लग गई बुरी चीज छूट गई यहां तक पहुंच गया या नहीं पहुंचे छूट गई और फिर असावधान हो गया एक अथवा तमोगुण प्रधान हो गया तो वो जो बुरा कर्म छूट गया था वर्षों तक छोटा रखा वही कर्म फिर कर डालेंगे आप ये स्थिति <laughs> अब तो समझ में आया या नहीं आया हुँ? हम्म? उसके कारण क्या क्या है ये याद रखना एक कारण है उसमें पूर्व के संस्कार उन संस्कारों को आपने कमजोर किया निर्बल किया उनको रोक दिया तो बुरा कर्म भी रुक गया पर वो संस्कार अभी मरे नहीं है दग्ध बीज भाव को प्राप्त नहीं हुए वो थोड़ी सी जब सावधानी होगी तो फिर उभार में आएंगे और वही कर्म वो कर डालेगा जो नहीं करना चाहिए आप ऐसा तो नहीं सोचते इतना झंझट इतना तप और त्याग इतना समय लगाने पर ये होते हैं तो फिर तो हमारे बस की बात ही ना हो शायद ऐसा तो नहीं सोचते हम्म जी कभी आपके मन में आया ये तो कहने की बातें हैं आज तक कोई व्यक्ति इसको जीत नहीं सका आज तक इस मन को रोका जा ही नहीं सका इससे तो ये लोग अच्छे हैं जो खूब खाते हैं खूब सोते हैं उल्टा खाते उल्टा पीते बड़े सुखी और हम एक बाल की खाल उतारते रहते हैं ये रोको ये रोको ये भी और दिन रात दुखी और ये कितने आनंद में रहते इनका जीवन अच्छा है फिर इन जैसे बनवा ठीक है या नहीं अरे ऐसा संसार में होता है या नहीं मानते आप अनेक लोग ऐसे मिलेंगे आप और आपने यदि ध्यान नहीं दिया तो आप भी ऐसे ही बन जाए ये व्यक्ति तप तपता है त्याग करता है विद्या पढ़ता है आत्मनिरीक्षण करता है पश्चाताप करता है परंतु जितने स्तर पर उसने विद्या पढ़नी थी तप करना था योगाभ्यास करना था ईश्वर प्रणिधान करना था विवेक वैराग्य करना था उस स्तर पर उतने काल तक उसने नहीं किया जहां अंतिम सफलता हाथ लगी है भूल ये है वहां ये इस भूल के कारण से होता है दूसरा भूल का कारण वहां यह भी रहता है कि वो व्यक्ति इस बात को भी नहीं जान पाया कि ये अविद्या ये काम क्रोध आदि दोष ये मेरे स्वयं के नहीं है ये तो तमोगुण से पल्ले पड़े ये भी नहीं जान पाया क्या समझ में आया आप बोलो ना बैठी चुपचाप ये अविद्या काम क्रोध लोभ मोह ये ये नहीं जान पाया ये प्रकृति तमोगुण के ये रजोगुण में सम्मिलित रहता है ये उससे मेरे पल्ले पड़े मेरे स्वयं के नहीं है ये भी नहीं जान पाया वो उसके मन में ये बैठ गया मेरे स्वाभाविक है व्यक्तिगत अग्नि की जैसे उष्णता उसने कहा कि मेरे स्वाभाविक यहां हट ही नहीं सकते दुनिया में ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता जिसके हट गए हो ये सोचता है आ गई बात समझ में दूसरी या नहीं आई आपको ज्ञात रहे कि ये लाखों ऋषि हुए उन्होंने अद्भुत ग्रंथ लिखे और वो उस अवस्था में पहुंचे जहां इनको सबको समाप्त कर दिया जैसे हटा दिया उन जैसा जीवन यदि बनाना है उन जैसा बनना है तो आपको इतनी विद्या से इतने सत्संग से इतने अभ्यास से इतने तप त्याग से इतने आत्मनिरीक्षण से उन जैसी स्थिति उपलब्ध नहीं होगी जो व्यक्ति ये समझता है अंतिम सत्य को ही मैं ग्रहण करूंगा असत्य को ग्रहण नहीं करूंगा चाहे जो कुछ हो वो व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त करना जिसके मन में दिमाग में ये बात है तीन काल में जो अंतिम सत्य है था वही आज भी वही सत्य है और आगे भी रहेगा उसको कोई मिटा नहीं सकता और उसी स्थिति में मैं जाऊंगा उसी में मैं रहूंगा उसे विरुद्ध स्थिति में मैं नहीं रह सकता रह ही नहीं सकता वो व्यक्ति इतना तप इतना त्याग इतना सत्याग्राही बनता और वो उसको उपलब्ध कर लेता है आपको जितना पढ़ाया जाता है सुनाया जाता है सिखाया जाता है ध्यान साक्षात्कार का रूप दे तो ये नहीं हो सकता आप इस तरह की प्राप्ति साक्षात्कार नहीं कर सके ये नहीं हो सकता क्या समझ में आया नहीं आया आ गया आप ये नहीं कह सकते कि हमको अच्छे प्रकार से प्रशिक्षण नहीं दिया गया हमको अच्छे प्रकार से पढ़ाया नहीं गया हमको ये बातें नहीं बताई गई जो बतानी थी करने योग्य बातें कुछ रह गई थी छोड़ने योग्य बातें नहीं बताई गई कोई रह गई थी ये नहीं कह सकते आप निरीक्षण से ये पता चलता है आप जितना अध्ययन करते हैं जितना आत्मनिरीक्षण करते हैं जितना वैराग्य के लिए वो इतना थोड़ा सा दिखता है ये ये इस स्थिति को कैसे प्राप्त कर लेंगे ये जो आप जैसे जितने हैं <laughs> मैं ये देखता हूँ ये ये इसको कैसे प्राप्त करेंगे आपके जीवन का मैं अध्ययन करता हूँ ना ये कैसे प्राप्त करेंगे कहाँ लुढ़क रहे हैं कहाँ घूम रहे हैं क्या सोचते हैं ये उस आत्मा के ईश्वर के साक्षात्कार पर कैसे पहुंचेंगे ये तो उसे आशा नहीं की जा सकती हाँ और आशाएं उसे की जाती है ये है दर्शनों को पढ़ेंगे दर्शनों को पढ़ा देंगे व्याकरण को पढ़ेंगे व्याकरण को पढ़ा देंगे वेद को भी ऋषि के भाष्य को लेकर पढ़ा सकते हैं ये बहुत प्रचार कर सकते हैं ये और विद्यालय चला सकते हैं ये गुरुकुल चला सकते हैं ये बड़ी बड़ी पुस्तक लिख सकते हैं शास्त्रार्थ कर सकते हैं ये तो आशा रह रही है या ये भी नहीं रहेंगी क्यों ये तो आशा की जा सकती है ना या नहीं ठीक है हाँ कुछ इनमें से भी नहीं कर सकेंगे ये अलग बात है ये जो मैंने बताया कुछ ये भी नहीं कर सकेंगे इन कामों को भी नहीं कर पाएंगे कुछ ऐसे भी होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे संस्था को और हमको बहुत बड़ी बड़ी गालियां देंगे बहुत विरोध करेंगे ऐसे भी होंगे कुछ या नहीं होंगे है नहीं अच्छा इसको समझ लो सीख लो और आपके दिमाग में ऐसी बात होगी हम जो सोचते हैं स्वामी जी उसको नहीं सोच सकते <laughs> तो मेरी बात एक भी समझ में नहीं आएगी अपना दिमाग ऊपर रहता है अपना आपका दिमाग वो एक चुटकला सुनाया जाता है ना हुँ? हम्म? क्या पूरे संसार की बुद्धि आधी और मेरी ढाई क्या समझा तीन में से नहीं समझ मारा क्या समझ मारा और मेरी तीन में से नहीं समझे संसार की बुद्धि आधी और दो और आधा ढाई और मेरी ढाई है नहीं समझ माया ऐसा व्यक्ति का दिमाग लगभग होता है और ये दिमाग व्यक्ति को ना तो ईश्वर की बात को स्वीकार करने देता न वेद की बात को स्वीकार न दर्शन की बात न ऋषियों की बात न ऋषियों के अनुयायी है उनकी बात इसकी बात ऊपर है और इसकी नाक रगड़ी जाती है इस व्यक्ति की ये इतना दुखी होता है इसकी दुर्गति हो जाती है अब दुख यदि ढाई बुद्धि को लेके चल रहे हो आप न ईश्वर की माननी न वेद की माननी न ऋषियों की मान तो आपकी दुर्गति निश्चित है कहीं चले जाओ अब बिना